નહીં બામણ જાટ ઓર ઢોલી એ ચાર દોસ્તાની बात એ <coughs> चार दोस्त मिल और खाउन कुमार वास्ते रवाने रवाने या और दर को चांद दर मदला दर को चांद दर मदला बेटा बेटा कई टाइम <coughs> वाह कौन बेटा बेटा हाल હાલવો કર્યો હવે કઈ जना हाथे है ना आगे गांव एक निश्योर मजाक में सड़ गया कि भाई सुनो रे चार आदमी हारा पांच चारों अलग अलग जात रहा राजपूत जाट है ब्राह्मण है एक डोल ये चार जात अब गांव में भरता ही मारी जात घर आएगा तो उठी जाओ चाहे रोटी गालो चाहे मत उठे ढोले रो घर आएगो तो उठे जाट रो घर आएगो तो उठेगा राजपूतान घर आएगो तो आने बाते वे अरे गांव में बैठे वाह हुकुम गांव में बढ़ता ही नहीं रो घर आए <coughs> नहीं रो घर आए बना और दार पूछो भाई घर के ना है के नयाँ पुराना जमाना में कहीं के भीता काट और वे पाचा जमा होता पाचा जमाए एवं कच्ची पोल वाह वाह जी बलाड़ी अब तो पोल करे उन्हें बलाड़ी कहते वो बलाड़ी में जाए ना बोले जना हुकुम वो नाई तो जुड़ो गांव ये नाइन बड़ी चाटक जाट हो હતી ने चैन કરી ઓળી कि आज નાઈ जट है कोनी और ते रात रमाल आज हेंग रात है मेरा आज दो घड़ी दिन होते ना અને વાતચીત થઈ એ અધિકૃત દિનો નાન ભડગા जब जाट ने ठाने के मेहमान आए अब आ, कोई छुला वाले कोई बात होने और क्यों रहो कि मैं चूर में लिया तने कानो बणो जज कोन्हे वाह होगो ए आप जम गए ना तो कौन बस नहीं हो रहा भाई अगली रोटी गालो चाहे मत कर भूखे हम हो जाट हुकुम की काम जो गुरु मोड़ो गुरु मन में विश्वास है कि आना जाने अपने तो तैयार है तो कोई टेम रहा <coughs> वाह आ फिरन गिरन मारे दिन बदन रुको उल्टे कड़ा दुष्ट है और मारे बीच में बांधो ना बोली के भाई छुलो मारो राय रंगीलो छठे महीने हिल गए मन में विचार कर रोटी रास करता हो आप बात कर आग रस तो पक फिर अटेट पे देखिए हाउ होने को थोड़ी नेड़ी आ गई ये छुलो मारो राय रंगेलो छठे में नहीं बनाए रमे कोई उकड़ा दी हो नहीं हम्म। ये भाई छुलो थारो राय रंगेलो छठे में नहीं मारा मंदिर लो भी લોભી અંદર के જણ उठे बरसात पानी है मैंने माई को जमा और जेठ सारा आई और बरसात है माई मन कर जाऊं ना देख कर बनता का मास तो पड़िया रे अपन है अब काती वाला महीना बन थोड़ थोड़ थोड़ थोड़ ही पड़े थोड़ थोड़ ही पड़ा रहे कोई कटे होता कोई कटे होता कोई कपड़ो होता कोई ओडियो कोई धोती ओडियो कोई क्या करियो तो रही लागो नहीं रे લાગો के छोटे છાણણ કે છોટી બનાવડી उना रचोड़ी રચોડી दूजा छे सेमान सब उरो पड़े क्यों रान ने चाट को ओ बेचारो बड़ो आदमी ओ छाण के पड़ी रहतो जाट न बाजाइन के उठे उतारे छान में मजा करता जन उरो डेरो वो अलग ही जा बाद चुल्लो तीन चिपिया दूजा कि चिलमदार हो चिलम पीतो अमलदार हो પણ હાથના ઝાટ હાથી લાગીમાં નહીં दूजा जाट દૂધે ઝાટ वो गाँव रहा हाँ। वो मोटे जाट को नहीं आता હમ. नाइयो नहीं। जे नाइरो गाँव को घर पहुंचन तो रिया मतलब हम्म। बना तो नाइयो આ ચાર જણા કે ઝાટ બામણ નહીં ઢોલે. नहीं जाट नहीं તો નાઈ? હમ. डोली और ब्राह्मण और राजू રાઠું હતા बा जाट वो गाँव रा जाट खावती थी હમ. वाही नाई હમ. जरा बर में नहीं होगा जरा नहीं रहे शाम हो घर पूछो में उठ जाएगा वाह होगा थोड़ी गुदरक पड़ी राजपूत उनके पेशा आगे जाने छनड़ की अड़ो कर ये कुटो दियो सालो दियो हो कोन मैं नाई दिनो माछो जड़ियो बिचारो कर कहते तो देखो ठीक है माँ तुम रोका तो मरा हम्म। आराम दो तो माँ तुम हम्म। ओ आप के मारी पासी दे हम्म। फिर माँ से तो मत तनान कोई और को तुम है कि पसवाड़ा फेरे ना टेटे गिरे अब भूखा नींद की आसमान ना सारा देश कहीं तो कट तुम गाँव में भी जोड़ा भूखा मत तनान कर डाट वाह को बहुत सैकड़ी रात गिरी हुआ जा रोंदा होंद चूरमा काले में चोचरी गी और गो लाल अंदर समा नींदा ये नहीं नींदा और वो बड़ा नहीं में बढ़ियो ये नहीं प्राण कोई है अब अपन तो पहले से छान रखो ना कन आयो डिस्कस हरकत नैन बात है आप आकर मन में विचार ओ छाने दे वाह कम छाने दे गिन होड़ा की अरे तू आटे कहीं करे है कि थाना या फूटगा छान दे से कोने मेहमान आएगा जो वाह छाने हैं टे बड़े लोग हैं उन बेजे उन सब अटे मारे टे लोग हैं होती मोक्ष नहीं माया जो बारे पोड़ में पड़ी अब करनो किकरियो का अरे राण जुलम कर कि जुलम कर गई काम सब कर आप अरे वे नेटा मैं भूखा मरूं मैं अरे के मैं तो चोर मोल आयो मैं भूखा क्यों मरे जिन्हें गाता मां कर तारी दिलाओ मने जमाए चोर में नहीं हूँ गाता मां थाले ले ली ठाकर मैं अबे होड़ोड़ो बोले हाँ से बोले तो मर्जी बोली पैसा नहीं जा अब होड़ोड़ो बोले कि अब थाने मान काम किकर करना कि काम तो कहीं करना किकर कर लोग यहाँ हैंग होती है कि वड़ी खुल नहीं सके अड़ी के तक में पत्नी पर अब लोग हैंग होती है अरे हाका मत करो मैं तो चिप जाऊँ क्यों ने नेड़ी और थे क्योंड़ी मत हूँ जो अपन पाप तो कर थारो मना जो कर पर फुटिक वाह अब उठाए लफिंद लंबो कम के मरे बता मगर देख ठाकर ने पहले था एक योजना में कि रसोड़ी ठकी मैं उपासनों काट त्यार कर ठाकर देख क्योंकि वोट को हिला नहीं रहा हाँ आगो आऊं थोड़ो आगो आऊं अब हजार से कोई आऊं क्यों से प्योर लप पास होगा अरे थारी प्राण मारो लंड बांधने के थारी बांधने આ તો જાજે જીવલે મેં ચુકલ્યો પડ્યો લોટો હમાતે થોડી જોર દેખ્યો આગે લોટોનો પડ્યો હાથ ધોઈ જીભે આમ લડને પર નાખ્યો अब वो चीज आप जिमने दुख बस छड़ बस छड़ देखियो माधे सो पार आले उड़ गया तो मने भूख लाग दे यार मां के देनो पड़ी वाह हुकुम <clears throat> जना एड़ी बात है हुकुम कि ढोली ने थोड़ा ही ज्यादा लगे जने कहो कि ही मंगराओ उतरियो लांबा पहिरिया जूता गली गली में फिरे हो तो कोई डोम बताओ होता तो हेड़ा में ये होता है એને ઢોલિયાને હે જ્યાદા લાગે લાલ તો આપણા ઘોંસડીમાં જ્યાં પડ્યા એને જ લાગે એ ઉઠ દેખ્યું તો महाराज होता है नाई जी होता है ठाकर साहब करेंगे ओ ठाकर देख पेशाब करने के आगे ठाकर बचल बचल ठोके चूर ओ पेशाब करने पाता है बाप ઘણી અંદાતા ઇન્દવા સુરત કઈ જેમો ભોસડીયા જેમો લંડ એ મારા બાપ મને દીધો ને वो चेपियो पड़ियो देखो पकड़ केवाड़ी रे गाता मग जाए बोले अबे वो देखियो साक्षा भी लंड का अपन खावता के वाह कम अब उन टाउन डुगो कने ना आडा आडा कने ने वो और तो नशो को वाह कम खाई दे के रे मां तो काचो दिलाई दे उठा हे काम रे अब आ बोल तो ठीक तो बोल गो महाराज वो चंद्र टेको कईड़ो होता वो राजा छिलके चंद्र बाहर जा दे કે આટે બાદ ફોંગ દે એ નાક માં ને તલકન બે એક કે જણ ખાય હવે જેના લેવે આને શરદી પડે એ આબો બેઠો ઠાકર તો आप वो चोर में जीव तबियतू चलो कर और कने चिल में 얼핏 생라 वो जाट नट कि मादे मारो रन बांधने के लिए मादे हलमानी कर लाए गांड में लोई पड़े अबे छेपड़ियां करिए हल पड़ियो हलमानी काटी है और बाद ही बाल वो हलमानी में गाली वह कई दूर छेफड़ियाँ बड़ी बड़ी उन टाइम में तो रात लाल वेगी हनुमान अब घरे थोड़ो हाँसणो पड़तो और काटियाड़ो महीनो थोड़ी थोड़ी ठंडी खिरा बार काटी जाने तो लाल सुन की अब भाग माई सोधी गांड में हेजो हनुमान गाल वाह को आर नो वाह काई के धोखो दियो ना हाल आयो हाल नहीं आयो आओ छानू निकले जो बारह आए निंकन निंकन पैसा आप करने बैठे उन टाइम आयो आंसे आंसे आए क्या आज तो जब अब रात दिन में तो वो काम हुए वे तो उन्होंने कहीं लाज कर पैसा आप करने बैठ गई उठी क्यों क्या आप इतना मोड़ा कि हाँ इतना मोड़ा लोड बोलिए वही वो तो आओ तो ये बस गागरी पकड़ बाकी तो ठंडी ही करके अलमन से अरे बाप जी बाप जी अरे बाप आपको के वो डोली बैठो जो वो मत ओ हसल हसल फट के नाक मारो अरे बाप जी मारो लंड बड़ा बाप हाँ गया क्या मैं ना नाटन तो खून बरियो मराज रहे अरे के मराज जागो ठोके जन जागे अरे जागो जागो ना आज देखियो अरे अगर जोत कान ठोक दो के मार दे सो दो मैं जर मार ला वाह हुकुम Pe pa sus londuk. Zarzu was almanisip pat. Aabe baap re kahin lagaun re kahin lagaun yun करते करे वाह हुकम बोझल योन सब जागा एर आप रो मुंडो भेज एर ठंडा पानी रो छीड़ो भिजोए एर बोश किया माता मेल पग बेच ले अब कहीं करे बाप जोरा भी अबे उठ यार अरे बोलते हैं ठाक साहब कट गया अरे मां तो ठाक साहब हाथ आटे मने कहीं था ढोल को बैठ बैठ रोवा सुतम ठेकड़ो अरे ढोला मान तो ठाक कट गया के माओ जो तालने बैठो अरे के छाने में बैठ सो के मैं उठ बैठ नाई चाचो कि मान तो सुन के खूब दे जा नाडू ठाक साहब अटकाई करो जुतों जाला जुत जाली और नहीं तो कशकंदा करो थाना मिलिया था रात रा पोई लिया क्या काम कर बोल लिया पोई लिया तो जना में कशकंदा करो की बात करो और नहीं तो हमारा थाना बा बांध भांगेला था वाटा पे फिर दूजा आप लोग गवा बोर्ड एंड यार तीन बजे तो गांव छोड़ गया पर डर को चांदर मदना खाऊं कमाऊं ना ही गया वाह को अब हमारा जाट आयो पाछो लोई तो डबो टेम्बल मारियो रे एर आयो नाइन कन मांदे सोद रान मारो लंडकी के बैठे अरे बहन सो मैं तो सारा दर्शन पेशाब करना है इधर करिया तो लंड सारा कौन बैठे मैं कन बात बन सानो सन ऐसे मार लाने अलमान से दे मांदे सोद तो अलग कौन दोनों पार पाला है कमा ये रान तू मारो लंड बार दिन मैं सन्नी मारो ये भगवान शोगन के धर्म शोगन मैं तो कहा हाथ लगे अरे मादे तुम डिस्कारा करने सान में कौन होता है हाथ लगे अरे मादे तुम डिस्करा करे नहीं थान में कौन होता है अरे कि मारो बाहर पाउन आया जो को तवे मादे तो फिर वे जो काम करियो मैं आज के दिन कोई काम वाह कहूँ बस खाण पीण ने गया परा और खाए पिए कमाए और पाचा मैंने घरे गया और नाइन चंद तो बाल दी और जाट ने दंड भी न कर दी इतनी तो बात है और इतनी विगत है રાઈકારી બાત હવે હુકમ એક રાખ્યો જેકો जेको जलम वो तो एवड़ गोना चढावतो दुजो जेके धंधो कोन गामे कधी जातो नाही कोणी साथ बेठतो नाही और जो तो कदीम रो धंधो सम समझे उन छालियां पकड़ी जो छालियां चरावे श्याम रा घर आ जा छालियां चरावे श्याम कर जिन हुकुम ये तो सोबत असर या जड़ी सोबत में जड़ी असर पड़े और दूसरी चीज तो कहीं देखी कौन वे गोना फरी जे नो बखरो कूदे माते हैं बात चीज ने देखी और दूसरे ने कहीं देखी बड़ा जीवरो आदमी हो और कमाओ बहुत हो बचपन में रुपया कर ली और मोटियार जवान बेंदनी भी और मोटियार जवान हो ही मुखलाओ करी ಮುಗ್ಲ ಹೋಗಿದ್ಯ ಜನ माता तो गुंथा में आटी वेला वो लड़के ने डाने के भी और संसार व्यवहार कैसे होता उन्हें बच्चों को भाई बच्ची थी हिरवा ये मंदिर थी उन्हें ठाइट को वाह को अब वो कहीं करे शाम वाला बेला मानिया जना हुआ तो उन्हें भाई लिखा कि जैसा स्वाभाविक वैसे असर होगा ये गोना लेड़ियाँ जो पड़ी थी नहीं जेको આપણો જજમાન હતો રાઈક હોવો જાટ હોવો કોઈ હોવો તો નવી નવી બેરણી આવતી જાણે નાયણમાં તો જોડ લાવતી જેવું ને કારણ કુંડો જેવું ને હિસાબ હતો જેકો બતાવતી और उन्हें रखी बेचारे को देती आई आज के सकते बेरणी के तो बेरणी के झोंपड़ा में बैठी राई कान पहले झोंपा जा झोंपड़ा में रहता अब तो मकान बन गया तेज मंजिल बेटी बाप रही हवेलियाँ El Peri Jumpra came from South. wow. क्यों नारायण जी हो उठे जोमफ्रा में वहाँ उठ गई आ गया बेटी घूम तो कहना इनके बेटा बेनने गर्म पानी दे जो घुमा तो छोटी जाऊँ था वहाँ उठे गर्म पानी दियो अब बाड़ा लाने गया जा खोलन रुका They say, what is one journey in within him? मीडियन बेजिन खोले लोग हैं खोल दवाई से अब उन्होंने एक हफ्तों काम करना रहेगा तो।, तो वो जो बिंद हो देखो वो क्यों हमें जड़ तो देखो आपने कहे क्यों चेपनी कह दियो आपने के कहाँ की नेड़ी को नेड़िया वो खेत में एरू हल खुद है जो कहाँ मैं गाले के बाद गोदी का नावे का घाट पहुंची आ जाकर ओ कहीं आगे નારાયણ મન में विचार करे रहे गंधो कहीं उठो रो कहीं गंधो બેન ને કે બેન ને એ તો ગે કે લગાવ્યો હતો ગુદી ને એ દૂધ બોલ્યું કોને દાદા મરજી ચોથી વાર મેં પૂછ્યો કે તું કર્યો કઈ ઓ ગે ગુદી में गुदी में ચોપડતી કે જાણા યા ફૂટ ગયા ગે કેવી ચોપડતી અટે જાણે કઈ કે કામ માટે જ કરતા હે કે કામ માટે જ કરતા බරි චාතරංග ටාටක් නෑ කිය. ඒවාල එර ගොන මක්දන ඒශාමෝ පෝදයක ෆෝන්සුලේට දව ලුගනේ ෆෝන්සුලේටල්වේ ඕ කාමට චලාවතුමට केयर कोई बात तो उन पानी दे और वो मलमूत ने गाड़ ए रचो मातो गूंद पाछो ए अब पूछ तार काम हटिस करता कि हमारा तो काम हटिस पागल है आप तने ठाने का लाऊला मैं अठ के तू जाओजे मार करो नहीं जी हाँ बड़ा मंदिर डावड़ी क्यों क्यों मैं आ थारा गर्दन करने मैं हूँ और मारा गर्दन कर तू हो और बाकी दुनिया ने क्या उन्होंने कि मैं कर जाऊँ कहीं जना रहे टेमरा जमाना में हो सब हो रहे था बह जन आप पत्र लड़के जाते वह नायन जी उठाई था क्यों नायन जी अब थान मोड़ो है जाए थान फुगाओ ना पड़ेगा नहीं सा मैंने क्या ना फुगो मैंने कहीं डरा थे मैं जा अब आप आराम करो घर में जाओ आजा फिर नहीं थाने झोपड़ा फुगा दो आगे वो भाई रोटा ठोकरो दूध रोटा हूँ ठाकुर नींद आई आउट ऑफ खांसी रही कर जवान पट्टी नादान ले गया अपने घर ले जा जगह नहीं दे पांच सौ गुलाम की गए मौज करनी है तो कर ले जवान पट्टी लाई काम और मैं जवान लोग नहीं तो ठा पड़ जाएगी लुगाई कट गई उन्हें मैं उठे माऊ जीते थान था काम ऊटो काम कराए तापल नींद अणाए और मैं पास आ जाऊंगा इन उठे गाल दूंगा और मैं पाछे नहीं कह रहे मान तो वो काम तो बच्चों बहुत बढ़िया कही वाह नहीं हुआ तू जा भले आज हाला भाजन और मैं जानू ना तो गाजन चुपचाप जाओ वाह हुकुम आज जवान पट्टी पच्चीस मेरी लड़की नहीं देगी मौज बन गई आ नहीं उठू गाल खोड़ा टांग फटकारी जो वो लड़का नींद नहीं जागी जहाँ पर जान घड़ियो वाह अब आने हाणे ज्योति ज्योति ने में मज़ो आयो ओ अरे मां त चोर मारो गज़नी तो इहा अटे न सघे अरे मज़ो त तो अटे वाह हुकुम राति रात तीन चार सियारो अटे मस्तु ये मां त चओ मज़ो त तो अटे अरे मन तो हाथ नहीं है मां तो चौधरी आठ नहीं से नहीं से गोदा दे अब रात नींद जागे पहाड़ों की नींद और फिर भाई पुरानी परियट है उन्हें जगे जगे ना उठी झोंकड़ा मंदा रहो बच्चा टिप क्यों तो उठे काम करते हाँ। इसका जी क्यों कहीं बात आज करा वो कौन है देखिए असारो करियो आन उन टांग में चलियो बनाए टांग में चले बहुत संसारी बार बताए बताए कैसा हम रखने रखना कहीं मजा अरे क्या लेन चुके आड़ो काटे हुए नहीं दिला है वाल बुरा कर अद कर नहीं नहीं चार बार गोट का काटे नहीं के देख के मार दे सोच मारा ગરાધનને પહેલે કરે પણ મને ખોળે કરી દે આલો બેદા મારી વાહ ઠાકોર આજને પછી આ હેંગન હિતો એ ચાર ટ્રીપ કરી આવ છોડી દો નહીં કોઈ ઓટો નાયણજી ફાડા ફાડા ફાડા ફાડા નાટાવ નાયણ જાન જગે त्यो घाम वाला और माता अब वो तो, तो नहीं तू जान गए अब मैं मार गए वहाँ झोंपड़ा में घाल बना फिर आठ सौ पासी आप जमा नहीं आपका गर्दन ऊपर जान होगी और गर्दन जान पूछो करो मजो आयो कि मजो कहीं आज तो मोह जनाए थाने मोह जनाए तो मारी ही टिकान नहीं मैं तद करो थे करो फिर वो आलो काटे चार बार बसड़ी बन जो कब मारे चार दिन दस दिन नेड़ा मत चल मारे सौ में पंद्रह दिन नहीं हो पर एक बार उन्हें पाची ला दिया अरे पाची लाने मारे कहीं हाथ और एक चान सोन मिलगोर में ले यार अब उन्हें मैं बताना ही देखो पाँच चीज जो हो दी जना अपन हाथ आ जावेला कोई काल और नहीं हो दी दिन वो उठे काम करियो तो वह लड़की अपना आप आ बाबा को बचावे चीज़ सिकड़ बाटो हरे की बात अन्न उन ठा पर गई जो काम उन जगह में लड़का ने और अन्न ये लड़की ने ठा पड़ गई को काम हटो तो वो को आप आप वह धंधो चलायो ना तो कोई अटन आई ना कोई अटन इतनी बात और इतनी विगत सेठ सेठानी री बात सेठ और सेठानी अंगा और मंदरा दोनों ही बोला घर में कोई बात नहीं कमी नहीं और हंसा हंसा एक बार होड आई सुबह दिन हो पांच पांच महीने होड सिर्फ कैसे बने रहेगा कैसे दिन बजे ही बोलगा तो पांच बजे आपको दे दो सेठानी दिन में जैसे तुम मारो गई तो पांच सौ एम एल तो ले ले वही कहते थे दिन होगो दिन होगा आप टट्टी पराग तक गया दातन कुल्ला करिए और सेठानी रोटियाँ फोन बैठ गई हम्म। शेठ साहब हिसाब करने बैठ गया जना हमें सीटे में कि भाई इन टाइम आप खड़ो खाओ और इन टेम अपन खानो पकड़ियो उन टाइम में सेट भैया मन कर और जान बैठ गयो खानो है खानो कौन बैठ गयो वाह गो खानो कौन बैठ गयो सेठानी ने होड़ा आई आपस में बोले नहीं और है ना खूब तबीयत तबीयतूं खाणो पुरजे शेर साहब जी में छेठाणी रोटियां पवे हम्म। घी दूजा सब आप रखने हाथ में भरिया हम्म। अबे बना एक जोगिया हम्म। आल एक ने गाल माया अबे तो हो डायोडी शेर छेठाणी बोले कौन शेर साहब रोटी थी मैंने हामी हामी देखे पनि बोल्यो मलाई देखेँ महाशु तो गुङ्गा है भात दो पक्ष आउँछ ना तो सेट के ना सिटन के थोट अब इन होड़ा हेड़ी बोल गए तो पांच सौ हजार ना सिटन के तो पाँच सौ वाह हुकुम मरा देखो ले आयो मां तो अबे तुम गूंगा गूंगी बोले कौन अब अजी रोटी कहती हूँ एक बर्तन पड़ियो पाड़ जी का साग लेवे अरे वो गेहूं नो किलो किलोड़ी लेवे खूब चूरमो करें ठोक तो ये के नाम नहीं वहाँ हम खाए पी मस्त है ए वो कलदीर में आटो पड़ियो पुराना जमाना की बात आज कल में मरा का पहले माटी की कलदियाँ में थी कलदी में आटो कलदी में आटो हो मेकड़ी मांडी पांच छह किलो आटो जो हूंदा हो तो मेकड़ी में गाल और बाहर निकलियो देखे बोले तो है यार अबे जोगी क्यों चुके आयो पाछो फक्त मां नीचो उतरो पाछो શેઠાણી સાહેબ હાથ પકડે એને થોડી આગે ઠેલ્યું લે કઈ દિન આવતો કાઢી लंगोट खोल न तो सेठ टेप नहीं कोई अब सेठ बैठ बैठ देखे अरे वो तो लड़का आदमी पांच रुपया लाग जाना पांच रुपया लाग जाना वाह हुकम वाल बुरा कर दिया सेठ मुड़ मुड़ तो ना ऑटो ले वहां से सेठ बैठ बैठ देखे आयरा गाबा जाते गन वो चुलक नान बेटी पाती जिते આપણને તો બદલો હે ખતમ નહીં ખબર બડો બદલો ભયંકર છિયારો રોટા ઠોકડ્યો ધપાવ બાયલી કર્યો આટો आटो બંધ્યો बंदो થયોડો ચાદરો બિછાય चादरों बिछाए अब शैतान बोले थाना को या फूटगा थाना को को आटा खाएगा लेगा हैंग को रोटा ठोगा हैंग घी खाएगा हैंग को मारी गांड मारगा था बोले कोने चुप को मारा बोल से पांच पैसा रख अरे તારા એ પોતે પાસ હોય અરે કંઈક મારી લીધી તું લાખ રૂપિયા લઈને ગયો પરો કે માં કશકામ સાને લીધી પાંચ પહેલા ઓલો थाना પાન हार का था अरे थाना ये फोटे थाना मैं कहीं हार गई मैं तो जरूर हार गई अच्छे हाँ। बैठे बैठे तो देखो मारी थी पान के तुम्हारा बोझ हट क्यों आया माँ कहीं कहाँ जानी थी अरे पास तो माइंड फिर क्यों बात तो चेतन के को आलो मारा बोझ उड़ा बदला पाला महाराज आज रात थोड़ी अब गयो घूमो तो खाओ पियो मस्त हो अड़ देखो अरे कई दिनों लंड छेड़ी जोड़ो लंगोट ने लोडी कन उठ अब चौथे होता तो है अरे बाई खड़ो हिड़ो को माँ गशका ना को साधु ना कहीं कसूर गुना तो कहीं दे कहीं माँ गशका होना है कसूर है ना अब आप यूं करो इन मत टट्टी जाओ पर अपना तो हैंगी કશું હેંગ નીકળી જાય ને આપણને ભરી પડી જેને ગીવા ટૂટો ભાટા દાદા કરો એનું તળાવમાં પાણી નીચોડો આ લે પાડી ખડિયા ખડિયા પાર એક તો સાધુ રણને મેલી એક અણને મેલી હવે ધોતી ખોલ એ જંગલ ચાવડ બેઠા હા તો એવું કર્યા કે ખડિયા પીસ ગઈ કે પડગો માં ખપ્પો महाराज ने लॻे कहिड़ो बड़कुण आहे कोन कंहिं पकड़ंदो न हिड़काए वास हिड़काए न कोन हाणे हाणे करे त तो छोड़ियो कोन वाह शहर नाटो दोतिया लांजा मना नगर मज़ो घुमाए तेन kanya मा तो फसका पग को मा so मा तो फरका जो पोइस pois मा जो jo tha जो माने jo अब आपा को हिरु काई अब किने क्या जरूरत मा आगा बढ़ो गवाजन मैं कोन को गवाजन मैं कोन वाओ को आप रे मनो मने समझ और बात जैसी रीति बात और पिसारी पिसारी री बात नायनो लड़को बड़ो बंड और दस नंबर रोज आवे जावे में लड़कियां देख की लड़कियां ने सेट और सिटने लड़कियां देख करोड़पति सेट अब उरवार चले नहीं कि मैं वो काम की मन में पूरी खांत लागे उड़ी के अच्छो जन अब वो गुम के दिन गया बेहतर है बेहतर है बेहतर कहीं की कहीं कर उपाय कहीं कर जना वो गुम वो दाढ़ी आड़ी बनाए और पाँच गिलास पाउडर लाले लगाए और औरत बनियो तो कोई शनागत नहीं कर सके कि वो मोटियार है और अब है वो को मोटे कर निकले और पैसा नहीं हो कोई पैसा हो कैसा नहीं हो कोई पैसा हो कैसा तो क्यों पते तो सेठ देखिए अपन भाई बुला लो भाई आ कौन को पेशार से को हटने हो भाषा कौन हो कहीं कहीं राग रखी लो था को पेशाई कहीं लो के मैं कहीं लो बाबू जी मन रोटी गाल दे दो और आप आटो पीस दे रोटी बनाए दे हूँ और मैं कही क्यों खानो गाल दीजिए हमको तो हंसा ही देखो महाकश का अरे शेर हाँ मैं देखे मन में हमको महाकश का छोड़ तो फूट देखो को कहीं को नावरे आ जा मैं ले को मैं अब आठ आ को चोरो है चोरी वाह ये बड़ा यार पेश तुसान खानो बनाए बढ़िया खानो बनाए जेम लिया सब जेम लिया अब क्यों एक नाव तारी तो और एक नाम पारी के जन के भाई जी आज आज भाई आप बेड़ा होना हो जन भाई लुगाई लुगाई हो सके इनमें कहीं क्यों नहीं बात क्या के कोई पैसा लियो आप बेड़ा होने हो गया शेर शेटानी एक कमरा में गया पड़ा और दूसरे कमरा में एटीन हो गई जना तो आ रही बेड़ो तो पिछड़ जी होगा ए पारी भाई एक बार होगा वासना थोड़ा रात दड़ेन छेड़छाड़ करी अठारह अठारह बजे चले जबन में फारसी पहन तो पूरी और के छेड़छाड़ करी छेड़छाड़ करेंगे थोड़ी दोरी दोरी भी बोबा मछलियाँ थोड़ा गाल ना खाया थोड़ा हाथ लगो लगे और के फिर गल फिर गल गई तो चे चे फिर आयो मजो अड़काए गयो हंगरात दो दिन के बाद तो आप पेशा जे बराने हो अब कहवत कहीं किने के आ बढ़िया जात है गुबो नहीं बस आतना साल रोटी फिर पीस पुसाद बना और अब सोने टाइम इन आरी बोली को आज मां तो पेशा जे बरा कोने बोल दोरा कना में गोडा दिया हैंगरा और तो कहीं कहे को मां तो आज ना बेरा कोने भले एक ले हो तो हो भले को को मार तो दोरा घना हो जाए गोडा से साची में गाल दे जबकि के कोन मार ना पारिवाई हो रे मार तो आज ना आज ऑफिस है जी अपा हो जाए यूं कहीं दोरा भाई तो कहीं दोरा वो रात और पारिवाई रे ओई ढंग करियो पारिवाई ने लड़कान मेल दी पारिवाई दे के मार तो ऑफिस है तुम अपा ना आज वार अपा नहीं वाह हुकुम हैं दिन बातें सीता करी प्रेम से लेन देन खाना फाना खाइनि होन ॾुकऊं टाइम भाई कह जो बात पकी भाई हो माँ तो पेसा जी बेड़ा कोन्हे आणो त अधो रहो तो के कोन भई मां मां शिटा मां होय रहियो जाने को ने बेड़ा हो रहियो के वाह शिटा ने भेरा ने रात जो दी वो रेडियो भाई <laughs> वो धंधो ही और शिटा देखे तो काम भेजा पाई देना कोई ने बात वाह हुकुम शाम पनीर वाई टाइम इनकी को छोनिया के जो बात आसी अब शेर रोट दी में एर को को पैसा जो अनुसा दौर में को थे छाचे में गोडा कर लेना हाची बात एर को अब एकला होवे कोनी करा गए ने कियो के कोने सा था हगला ही मारो साहब का तुम्हें तो शेर दिन मा हो रहा के शेर नहीं आखे कोन काई फरक कोन थोड़ा साग लाजो अब आपको तबीयत रोड दे में दे आज मूड पसंद नहीं घुमाओ को कमरा में डाल दो कमरा में दिया ओ फोकटी हो बहन तो दूंगो ओ तो दारे खाना ना खाए थोड़ी दूर भी छेड़छाड़ छेड़छाड़ कर क्योंकि नींद कुमारा भोसा भी नींद को पता करो को आगो करे नींद आवे सेठ बाबा माता ना तेरे मारो बोल के मोटे यार तो बाबा कटे देखे भाई कोई उठते छोटा ही भाई उनका सा छेड़छाड़ करी तो चोरो देख के मानते चौदह भाई नो कहीं करो के वो वो है और तेरा कपड़ा पहनने जा और एरे ठोटो उठो उठ गो शेर साहब रे मारा दे दूं दे चौथित पड़िया ये वहां लेता दोनों कांक्ष पकड़ कैठो क्यों मोको आटे ये घर उन दो ऊंधो पड़ियो के दोते कॉल पूरी छेद सेठ ने लड़का नहीं सेठ के मादर स्रोत हो तो दो चोरिया ने करना कि सेठ ने करना कि मने करना करने के वास है क्या को को माता आंगन हो रहे हो को थाम थाम माता माता हो रहे मां किसके होना अब देख लिया थान वाह हाँ, हो गया आंगन पूरी तो सेठ तो है रात को ओ तो आप तना माता माता हो अबे सुबह दिन हो यार अबे सेठ छोड़ो मंडिया चौधरी पारी चौधरी चौधरी घर की नारी को बड़ा सेठ की गांड मारी अब तुम परी जा पिसारी अब धन मैं नहीं रखा बाप तुम माने हगड़ा ने बोल दिया ए तू तारे घर जा मारे अरे नहीं चाहिए वो तो आप लोग काम हो जो कर गो और नहीं जो तो छोरो नहीं गो और इतनी तो बात है और इतनी विगत ठाकर और नायरी बात एक गांव में ठाकर हो ठाकर है मुंडा के नौकर है तो नाई एक आगू कहा और ठाकर भी कहा दोनों बातों और कानून और कान एक दिन समय और ठाक साहब कह रहे सुने मैं जाऊं गांव गोरी ने हाउल टेमा दानो दे दे टेमा तेने चारों नाक दे आने मारे गोरी पाता हूँ पतले पड़ जाओ तो खा लो फोड़ना पड़ो कि जो ठाकुर गाँव गया कहानी हो जाओ वो रावण ने थोड़ा रोटा ठोक ठोकता और कटे ने कोई चीज आता ही कोई ने हो जाए कि मां तो आप कहने दे गोड़ी ने करनी हर कोई जो मुंडा के दान मेल गोड़ी रे एंड रे चिप जाता नाइडो नाइडो गोड़ी ने करन दो welcome. दो दिन या तीन दिन ओ यूं काम था और गोरीबा लोग मांटो खावे जितने ही लोग काम करे एक दिन समय और हतर टसाली भाई अरने तो नेड़ो कुंडो मेल डालो एर गोरी हरू यो अरन भाई साहब तो इन्हें थे कहता કાણ્યા કાણ્યા कटी करे અરે એવું આજ દેખ્યું મને કાગે अरे અરે એવું કાંઈ કરે ઢુંડાળી બાત ये काई करो છો ठाक साहब को कहचो कह बो है कि घोड़ी को छपका दाल दे दे तो घोड़ी थाक नहीं जावे इन वास्ते घोड़ी को छपका दाल दे रही हूँ लेके दाल खावे डाल छपको दूँ भाई वो भी देख वह छपको दे बंदी हो ए आ गया ਕੁੱਤਾ ਕਰ ਦੋ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਤ भाई साहब क्यों को माने सबका डाल दे मैं ही ठाक जाऊँ ठाक साहब आज देते आपने दे उसे सबका दाम आज आज घोड़ी बंद करो फिर धान दे सबका दाम जन में मुठी दो मिट्टी वाला दाल घोड़ी को काट कारण अब भाई दिन चेपे चेपे एक दानो मुंडा बना के नहीं गप को दे एक दानो मुंडा बना के नहीं गप को दे भाई जी असल साधा વાયદીની મજા આવે આ ભેગે ભેગે ભેગે દાણા નાખીને ભેગે ભેગે લા છકવા દાળ ભેગી દે વાહ તો પાંચ ચાર દિન થકને ભાઈને ખૂબ રડે વાસ રડકાય રડકો ઠાકશા ભાઈ આયા હું ચૂકી કર ભાઈ રહ્યા છોરા સુખી જા હા તો છોરા સુખી કાણિયાને કે ગા એ ગોળીને છપકા દાળ દઈ દે जो गोरी ने मान दो ना सबका डाल दे तो ताका का माँ माँ तो मौज में अरे वो श्रीगन सबका डाल कौन सी अरे किसी सबका डाल दे तो भाई ने पूछे एक बार ओके सबका डाल दे तो तुम के पगम बीते तो बैठ जाते और सबका दे देते मुंडा में दाना नाक तो एक बार ये गोरी ने दी जन मैं देख ली जन मैं क्या भाई ठाक साहब गया गांव अरे मैं ही थाक जाऊं माने सबका डाल अरे बोसली बोल में अबे राजपूत नो जमानो हाको करे तो गुंडो के रे माते सोद कानिया थारो कहीं कर जना बोरा मंदरो ठाकर देख के माते सोदी गणे कानिया री गांड मारना जो आपानो बदलो सो जना वो बुलावे ठाकर जानो पड़े दिन बते बते मेल में बुलाए हेलो पर आ गए पर अरे कान्या इटा छे गयो कहानी पर मौसा काई बात है आडो बंद कर खोल बस लिखा दो जो तो सबका दाल दे देन कायो कर दी आज मैं दे सबका तब जावे कट कॉल दी कहानी दो थी क्या करो उठा इला फिर कैसे गाली लेके बांधे तो दब गए दो चुका जाने क्योंकि बाबा जोर से आने तो हमारी आंख खुले आ कान से आंख खुले से जोर से आने हन ठाकर देखे माधे आंख आवड़ो है अरे भोसले का पहले हमारे गाल जो मां की आंख आवड़ो है और जान चिटकने कौन दे चिटकने कौन के ठाकुर से पे से पे दुखी मां और के अरे भोसले का बाल था मां की आगली फूटे थे तो सारे ಕೂತೋ ಸಾಧ್ಯ आदरी ವಾಡಿ ಬಾರಮ್ಮ दो पर ಕಾಲದ तो ನಾಯಿ नाच छोटो वो तो गेट दूधा सब छोड़ दे देगा अबे पाँच गए पर तो मार मारना जना घोड़े नहीं कर गो फिर बाई नहीं कर गो ठाकर नहीं कर गो वाह गुम ना गो इतनी तो बात हो रही थी रात की लड़की बात <clears throat> दस ग्यारह बजे लड़की जाता जो गया चरा गया चरा एक दिन रो समय अहिड़ो इहो हुकुम जेको गदो गदी मां थिए जंहिं गदार तो इतिहास लांबो लांटो जो और कंहिं गदी ॾिसे जंहिं गदी मुंडायूं बस बस बस बस कर वो करे और गदो हिरकावणो मरे छोरी देख और हरी मां जुल्म ಮಾದ ಚೋದು ಗದರ ಇರ್ತದ್ದು ಆದ್ನೂರು ಗಂಟೆ ಕಿತ್ತುವಿ ಅಪ್ಪನ ನೀ ಪಲಿದು ಆ ಬೇವ ಬಚ್ಚ ನಾವ್ರು ಶಂಕರೆ ನೀ और ना नजीक जावे ये ना ब्याह रो करो बड़े यूँ करता करता बना हसर अठा साल लड़की ब्याह रो बात करे तो कि बेरे बावड़ी पन मंजोला में आज पन जुलून कर अब आ गदार जेल भर वहाँ हुकुम अब इन ठाने भाई आदमी को थोड़ी लंबो में भए हुजूर दो में हम गदर कहते भई पर वहाँ मन में सोच